रसैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिमुको भुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ वायुर्यथको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एक तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ सूर्यो यथा सर्वलोक चक्षु न लिप्यते एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक न बाह्य सबके सो जाने पर जागता रहता है कैसे पता चले कि सबके सो जाने पर कौन जाग रहा था तो दूसरे की कही बात मानोगे तब तो विश्वास ही करना पड़ेगा दस आदमी एक जगह सो रहे हों सब सो गए और उसके एक ने कहा कि भाई तुम सब लोग तो सो गए थे मैं जाग रहा था तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना तो ये दूसरे की चर्चा नहीं है वो ये अपने की चर्चा है वो एक ही वस्तु है अपना आत्मा जो काम करते समय भी रहती है सपना देखते समय भी रहती है और बिल्कुल सो जाने पर भी रहती है इसी को जागृत स्वप्न सुसुप्ति कहते हैं अंतकरण के सिवाय और सब कुछ सो जाए और अविद्या जो है वो स्वप्नाकार कामाकार जो अंतकरण का परिणाम है ना वो बन के दिखाई पड़े अपना अज्ञान ही दिखाई पड़ता है मन है तो अपना आता और दिखता है दूसरा तो अज्ञान तो वही अज्ञान तो यही है कि है अपना आता और मालूम पड़ता है दूसरा तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में ही है एक है देखो जैसे घड़ी आए और जाए और पुस्तक तोड़ी जाए और बंद की जाए और पुस्तक यहाँ रहे या न रहे तो देखने वाला एक है विषय भेद से माने घड़ी और किताब के फर्क से देखने वाले में फर्क नहीं पड़ता है ऐसे जो सात बजे की का घंटा सुनता है वही आठ बजे का घंटा सुनता है तो घंटे सात और आठ हो सकते हैं लेकिन सुनने वाला तो एक ही है बोले ये हम दीवार के भीतर बैठे हैं और दीवार के बाहर निकल गए तो ये स्थान अलग अलग हो सकते हैं लेकिन देखने वाला तो ये ही है उस तो स्थान के भेद से काल के भेद से वस्तु के भेद से देखने वाले में भेद नहीं होता अब आप नाथ जीव के भेद से भी देखने वाले में भेद नहीं होता और अपने को पापी कभी माना कभी पुण्यात्मा माना तो भी मानने वाले में कहा देखने वाले में कहा भेद है कभी पापी माना कभी पुण्यात्मा माना कभी सुखी माना कभी दुखी माना तो उसमें भी भेद नहीं है कभी शांत माना और कभी विक्षिप्त माना तो उसमें भी देखने वाले में भेद नहीं है कभी ज्ञानी माना तो कभी अज्ञानी माना तो उसमें भी भेद नहीं है देखने वाला तो बिल्कुल एक ही है तो ये स्वप्न की बात थोड़ी सुना रहे जो ये सुप्तेशु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण इंद्रियों ने हमारी इंद्रियों ने विषय का प्रतिबिंब लेकर अंतकरण को देना छोड़ दिया बाहर से सब सो गए आंख सो गई प्राण सो गया नाक सो गई जीत सो गई त्वचा सो गई सब सो गए जो ये सब सुखतेशु जागृति बोले तुम नहीं सोए क्योंकि कहते हो कि मैं तो बिल्कुल बहुत अंधकार में ऐसी गाड़ी नींद आई ऐसी गाड़ी नींद आई ये कुछ मालूम ही नहीं पड़ता वो देख के तुम आए हो बड़ी अंधेरी गुफा में घुस के और वहाँ का नजारा देख करके कभी कभी हम ऐसी गुफा में गए हैं वो जहाँ कुछ नहीं सूझता देहरादून के पास एक ऐसा नाला बहता था वहां पे सात आठ मील पर नील भर वो भीतर ही भीतर आता था ऊपर था मिट्टी है ना अगल बगल से आने की दीवार और भीतर से नाला था तो शौकीन लोग जो है ना वो नाले का नजारा देखने के लिए इधर से घुसते थे और उधर निकलते थे अब वो छोटा हो गया जरा धरती गिर गई इसकी अब एक मील का तो नहीं है पर अभी दो तीन फरलांग का तो है वो तो थोड़ी गुप अंधेरी गुफा में गए थे हम गोविंदनाथ की गुफा एक बार देखने गए और बड़ी भारी मारा बीस इक्कीस गज है और पांच पांच सौ गज की गुफा होती है तो ये सुसुप्ति जो है वो और होता है पर उसमें जाने आने वाला कौन है तुम हो कि नहीं हो बोले गुफा में एक ऐसी स्थिति देखने में आई कि जहां न माटी न पानी न आग न हवा न आसमान न पूरब न पश्चिम न घंटा न मिनट और न रिश्तेदार न नातेदार और सब दिखे सब दिखे रिश्तेदार दिखा नातेदार दिखा है और पूरब दिखा पश्चिम दिखा आज दिखा कल दिखा बीस वर्ष दिखा पच्चीस वर्ष दिखा मिट्टी पानी आग हवा दिखी तो एक मत ऐसा है जीव हाँ। जीव के जो कर्म बहुत हल्के फुलके होते हैं और जिनका फल वो जागृत में नहीं भोग सकता उन कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर ही स्वप्न को बना देता है बोले नहीं वहां तो पंचभूत नहीं है ईश्वर भूत की सृष्टि पंचभूत की सृष्टि करता है मिट्टी बनाने वाला ईश्वर पानी बनाने वाला ईश्वर आग बनाने वाला ईश्वर आकाश बनाने वाला ईश्वर ये बड़ा विवेक है इसका उपनिषदों में लोक बनाने वाला ईश्वर नहीं यद्यपि ईश्वर उसमें है बनाने वाले में है क्यों बोले लोग तो वासना के अनुसार बनते हैं बोला ये जो तुम अपना मकान बनाते हो ना तो दो मंजिल का मकान बना रहे थे चार मंजिल का बोले ये ईश्वर ने बनाया तो तुम क्योंकि तुम्हारे हृदय में ईश्वर बैठा हुआ है इसलिए ये कहो कि मैंने नहीं बनाया ईश्वर ने बनाया तो ये तो भक्ति की बात हुई लेकिन असल में मकान तुमने वैसा बनाया जैसा तुम्हारे मन में वासना थे है? और मिट्टी पानी आज तुम्हारी वासना ने नहीं बनाया है? वो तो ईश्वर का बनाया हुआ है तो स्वप्न जो है ये मिट्टी पानी आग नहीं है ये तो अपनी वासना का बनाया हुआ लोक है तो वहां स्वयं ज्योतिष तो जीव में रहता है बोले कि जीव तो करता है तो जीव करता नहीं है स्वप्न तो का करता जीव नहीं है देखो शास्त्र में ये बात बताई गई है कि जब मनुष्य के मन में दुखी पने का अभिमान उदय हो गए कि मैं दुखी हूँ तो ये समझना कि उसने जरूर पाप किया है आज किया कल किया परसों किया जिसको पाप का अभिमान होता है उसी को दुख का अभिमान होता है दूसरे को नहीं होता हमसे ये गलती हो गई तो ये भोगना पड़ रहा है और जब कभी सुखी बने का अभिमान हो तो जरूर तुमने पुण्य किया है करता तुम रहेगा हो तो ये जो स्वप्न होता है ना स्वप्न उसमें एक तो जीव में कर्तृत्व नहीं है एक बात और दूसरे संकल्प नहीं है कि मैं ये काम करूंगा वो तो दिखता जाता है दिखता जाता है दिखता जाता है, है? और बोले कि वहां तो कर्म वहां वासना तो होती है परंतु वासना पूर्ति के लिए जो अपेक्षित प्रयत्न है वो नहीं होता केवल वासना से सब काम नहीं बनता उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है यथा कर्म यथा श्रोता केवल मन में वासना ही बातना हो और वो पूरी होती जाए और वासना ही वासना हो वो पूरी होती जाए तो मरते लोक नहीं रहेगा वो तो स्वर्ग हो जाएगा ना और वासना कभी अंधी भी होती है वासना तो गलत स्थान पर ले जाती है गलत भोग देती है तो संकल्प नहीं है कर्तापन नहीं है अच्छा और जो चीज तुमने बनाई या देखी सपने में जागने के बाद उसका बाघ भी हो जाता है कि वो मिथ्या थी है ना सब कुछ देखो और बाद में मालूम पड़े कि झूठ मूठ पर्दे पर पर्दे पर महाराज वो देखना असर थी बरस रही हैं बड़ी खुशी हुई उनमें से एक भी लेके आ सकते हो क्या कर रहे हैं अरे वो तो झूठी थी हाँ, झूठी थी तो बाद में जो चीज झूठ मालूम पड़ती है वो बाधित हो जाती है उसको बाधित कहते हैं तो ये तीन तरह से होती है है ना एक देश में जो कर्म कांड सच्चा माना जाता है जब वो दूसरे देश में मिथ्या हो जाए तो बाधित हो गया हो हाँ, और एक काल में सत्य हो दूसरे काल में मिथ्या हो तो भी बाधित हो जाता है और एक अवस्था में सच्चा हो दूसरी अवस्था में मिथ्या हो तो भी बाधित हो जाता है देखने में सच्चा हो लेकिन अधिष्ठान में झूठा हो तो भी बाधित हो जाता है और देखने में सच्चा मालूम पड़े और देखने वाले में झूठा हो तब भी बाधित हो जाता है ये बात की बाध का साथ ये नहीं समझना कि मालूम न पड़े बाध माने है ना बाघ माने उसकी सत्यता जो है ना सत्यत्व बुद्धि जो उसके बारे में है वो सत्यत्व बुद्धि बदल जाए सत्यत्व बुद्धि की जगह नित्यात्व बुद्धि का उदय हो जाए जैसे रस्सी में देखा हुआ था पहले उसके बारे में सत्यत्व बुद्धि थी बाद में नित्यात्व बुद्धि हो गई तो वो कैसे हुई का अधिष्ठान याथात्म के ज्ञान से माने रज्जू के ज्ञान से ये रस्सी है ये बाघ होता है तो ये जो स्वप्न होता है ना स्वप्न ये ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के दूसरे भाग में अनेक अधिकरणों में स्वप्न पदार्थ का निरूपण है तो बोले कि अच्छा सूचना मिलती है कि नहीं इससे तो सूचना तो मिलती है लेकिन जिससे सूचना मिले वो चीज सच्ची हो ये कोई जरूरी नहीं है झूठी चीज से भी सूचना मिलती है ऐसा तो ये सीट में चांदी का भ्रम हो जाए ना तो खुशी होगी कि नहीं होगी लेकिन जब मालूम पड़ेगा कि शादी नहीं सीप है तो वो सुख बाधित हो जाएगा एक आदमी को एक अंगूठी मिल गई बोला हाँ दो हजार रुपये की मिल गई खुश हुआ बाद में मालूम हुआ कि क्या हाथ है तो कट गई ना किसी को बाद बोलते हैं हो जिसको हम चेतन समझते हैं जब हम जान जाते हैं कि ये जड़ है तो चैतन्य पने की जो भ्रांति थी अभ्यास थी है ना वो उड़ गई वो भ्रांति उड़ गई ये बात हो गया एक ही अनेक रूप में देख रहे थे जब मालूम हुआ करे तो अनेक नहीं है एक है तो अनेक का उड़ गए इसी का नाम बाघ हो गया तो बाघ को समझाने के लिए शास्त्र में है ना समझो कि पूर्व मीमांसा में वो बाघ शब्द ही वहीं से आया है ये उत्तर मीमांसा का शब्द नहीं है पूर्व मीमांसा का शब्द है हाँ, दसवें अध्याय का नाम पूर्व मीमांसा में बारह अध्याय हो हाँ, कोई लोग सोलह मानते हैं कोई बारह मानते हैं तो बारह है अपने संप्रदाय में बारह मानते हैं उन बारह में से दसवां अध्याय का नाम बाघ अध्याय है अध्याय तो बाघ को समझना पड़ता है अच्छा तो स्वप्न में किया हुआ पाप मनुष्य को क्यों नहीं लगता कि स्वप्न के समय तो मालूम पड़ता है कि हमने चोरी की हमने बदमाशी की लेकिन उठने के बाद वो बुद्धि बदल जाती है क्या होता है कि हमने कुछ किए ही नहीं वो सपने का पाप नहीं लगेगा ऐसे सपने के भोग से संस्कार बनेंगे कि नहीं बनेंगे अगला जन्म देने वाले तो सपने के भोग से अगला जन्म देने वाला संस्कार नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा जो सपने से उठने के बाद हाँ, पहले सपने के समय पर बुद्धि थी कि ये भोग है और उठने के बाद बुद्धि हो गई कि ये कुछ नहीं है तो ये जो संसार मनुष्य को प्राप्त होता है ना एक ही बात इसमें देखने की है एक बार काशी में मैंने वहाँ के विद्वानों को बुलाया था सब विद्वानों को कोई ढाई सौ तीन सौ तो अध्यापक विद्वान थे और कोई पांच सौ विद्यार्थी थे तो ये प्रश्न उठा था और स्वप्न के बारे में विचार वही शास्त्रार्थ है ये ईश्वर का बनाया हुआ होने से सत्य है हाँ। और कि ये सूचक आगे का फलादेश कर देता है तो इसलिए सत्य है क्योंकि उपनिषद में वर्णन है कि स्वप्न में अमुक अमुक वस्तु को देखें तो ये ये फल होता है यदा हाँ, काम में सुकर्म सु स्त्री स्वप्न सु पश्यती समृद्धि तक जानी आप समझना की बड़ी समृद्धि होगी कोई अनुष्ठान कर रहे हों तो शंकराचार्य ने साफ विचार किया है तो मंत्र का संस्कार देवता का संस्कार आराधना का संस्कार इन सबको मिला करके जब सपना आता है तो वो सपने की सच्चाई नहीं हुई वो तो मंत्र शक्ति आराधन शक्ति की सच्चाई हुई एक आदमी को एक बार स्वप्न आया थी हमने आज सफेद सांप देखा है सपने बिल्कुल सफेद वो तो बेचारा घबराया हुआ आया अरे काट लिया कि नहीं काट लिया तो उसने कहा कि काटा तो नहीं बच गया अरे वो तो डरा हुआ था मैंने कहा जा तुझे तो एक हजार रुपया मिलेगा तो अब काट लेता तो पांच हजार मिलता तो और उसका दुख तो तुरंत ही दूर हो गया हो वो तो खुश हो गया मैंने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया स्वप्न है श्वेत का स्वप्न में आकर काट लेना अब जैसे गड्ढे से बाधित है वो तो मिथ्या है अब कई लोग जो गरीब होंगे ना वो चाहेंगे कि हे भगवान हमको ऐसा सपना दो भले सपने में सफेद सांप काट जाए लेकिन हमको पांच हजार रूपये जरूर मिले वो नाई साहु यहीं का बम्बई का प्रेमकुटी की तरफ रहता था तो महाराज दूसरे तीसरे दिन उसने फोन किया बोले कि स्वामी जी आपने हजार रुपया मिलने को कहा तो हमको एक नोट हजार रूपये का पड़ा हुआ मिला है लेकिन आ गई है लेकिन इससे सपना सच्चा नहीं हो गया हो इससे स्वप्न में सत्यता नहीं आई हाँ स्वप्न तो बारिश हो गया तो विद्वानों ने ये निर्णय किया कि एक तर्क है एक युक्ति दस ये कर लो और काम बन गया बाधितम भगवती बा नवा स्वप्न स्वप्न के अनंतर ये मिथ्या है ऐसी बुद्धि जो कुछ मैंने स्वप्न में देखा है ये मिथ्या है ये बुद्धि उदय होती है कि नहीं तो होती है तो बाघ हो गया है ना और तत्वज्ञानी को स्वप्न टूटने पर ये प्रपंच मिथ्या है ये बोध नहीं होता हो ये प्रपंच रूप स्वप्न के भासमान रहने पर ही उस स्वप्नाधिष्ठान रूप आत्मा का ज्ञान हो जाने से अपने अखंड अद्वय आत्मा में ये जो प्रतीति हो रही है, है? ये अपने अभाव के अधिष्ठान में भाग रही है इसलिए भागती हुई भी नित्या है ये सृष्टि देखो ये हुआ ये वर्तमान काल में बाद हो गया और रज्जू सर्प ये नीलिमा है नीलिमा नीलिमा आंख से आकाश की नीलिमा आपसे से हुई भी जिसको आकाश के स्वरूप का ज्ञान है उसके लिए मिथ्या है वर्तमान में भी क्या है एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना मिथ्या है एक वस्तु में दूसरी वस्तु दिखना मिथ्या है एक काल में अनेक काल दिखना मिथ्या है एक तत्व में अनेक तत्व दिखना मिथ्या है तो कामम कामम पुरुषो निर्गमाना तो अब ये प्रश्न है कि क्या जीव स्वप्न का निर्माण करता है तो निर्मातारम से के एक वेदांत में इसका भी विचार है उसी अध्याय तीसरे अध्याय है तो अब <clears throat> बोले नई जीव स्वप्न का निर्माता है ये बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है देखो तो ईश्वर पंचभूत बनाता है और हृदय गर्भ जो है वो लोक बनाता है और जीव दुख बनाता है ये दुख ईश्वर नहीं बनाता हो अब दुख ईश्वर नहीं बनाता ईश्वर तो बिल्कुल आनंद रूप है उसके पवित्र हाथ से दुख का निर्माण नहीं होता है तो जिसको छू देता है वो सुख हो जाता है जीव नहीं होता है तो जिसको छू देता है वो सुख हो जाता है जीव अपनी भूल से दुख बनाता है ये जीव सृष्टि है दुख जो है वो ईश्वर सृष्टि नहीं है जीव सृष्टि है ये प्राकृतिक सृष्टि भी नहीं है हाँ लोग कहते हैं ना क्या ये नेचर शब्द है ना है ना नेचर नेचर बोलते हैं तो दुखी होना तो नेचर है नेचर है नेचर है तो बिल्कुल नेचर नहीं है है ना ये मन से किसी चीज को पकड़ करके छोड़ना नहीं चाहते हैं वो तो कई दुख का कारण है या जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसको बुलाना चाहते हो और जो चीज तुम्हारे पास आ गई है उसको भगाना चाहते हो ये जो न अनमिली अनमिली की चाह और मिले हुए से जो परहेज है ना यही दुख का कारण है दुख बुद्धि का भ्रम है ये ईश्वर की रचना तो दुख है ही नहीं जीव की रचना है सारे वेदांत में सारे वेदांत दर्शन में सारे उपनिषद में सारे वेद में ये बात मानी जाती है कि जीव ने तो ये मेरा और ये तेरा ये ममता हो बनाए करके अपने लिए दुख की सृष्टि की है तो स्वप्न जीव का बनाया हुआ नहीं है तो तब स्वप्न सृष्टि का वर्णन क्यों है संधि सृष्टि राहु और क्यों बोले स्वयं ज्योतिष का निरूपण करना है आत्मा जो है ये बिना देश के देश बन जाता है बिना काल के काल बन जाता है बिना वस्तु के वस्तु बन जाता है बिना संबंधी के संबंधी बन जाता है ये स्वयं प्रकाश आत्मतत्व बिना सूर्य के भी देखता है बिना चंद्रमा के भी देखता है बिना अग्नि के भी बोलता है बिना जीव के भी बोलता है बिना आख के भी देखता है है ना इसका जो स्वयं ज्योतिष है वो स्वप्न में जाहिर होता है ये स्वयं जो है तो स्वप्न को जाहिर करना और स्वप्न को से लेना ये जो है आत्मदेव तो ये कौन है पर तुम इनको इस दिल की चहार दिवारी में घिरा हुआ और समझना ये कोई बंदी नहीं है हाँ, ये कोई कलेजे के मांस पिंड में है ना पैदा होने वाला कीड़ा नहीं है डॉक्टर लोग तो इसी तिराक में है कि मांस पिंड में पैदा हुआ हुआ एक कीड़े का नाम जीव है अगर ये बात निकल जाए तब फिर हम आत्मा का निर्माण प्रारंभ करें तो ठीक है वो दिल में काम करने वाला एक नौकर है आत्मा का बोला उसको तुम बना भी सकते हो अहम अहम अहम अहम जो हो रहा है ना अहम अहम की स्फूर्ति हो भी सकती है बना सकते हो लेकिन जो अधिष्ठान वस्तु है ना जो वो द्रव्य है ना चेतन वस्तु जो सब में एक है हम आत्मा उसको नहीं कहते हैं जो हर शरीर में अलग अलग होती है हम आत्मा उस वस्तु को कहते हैं कि जिसकी एक स्पूर्ति विशेष का नाम हम है सब में एक ही है ये तो ऐसे बताते हैं कि जैसे दस बर्तन में पानी चला दो और एक सूर्य का प्रतिबिंब सब में पड़ता है ना है? जैसे एक ही आकाश की छाया दस पानी के बर्तनों में पड़ती है जैसे दस घरों में एक ही आकाश है ऐसे आकाशवत आत्मवस्तु का नाम कोई अणु नहीं है चेतनाणु का नाम आत्मा नहीं है किसी कीटाणु का नाम आत्मा नहीं है किसी जीवाणु का नाम आत्मा नहीं है आत्मा वो वस्तु है जो सबके शरीर में उपाधि के भेद से अलग अलग फूर्ति तो मालूम पड़ती है परंतु अलग अलग नहीं है और उसकी अखंडता में उपाधि ही नहीं है और फिर उपाधि दिखती है तो आकाश की नीलिमा की तरह दिखती है अखंडता के ज्ञान से बाधिक उपाधि का दर्शन होना कहीं ये कोई बड़ी बात नहीं है अब देखो जरा बोलते सदैव शुक्रा वही जो स्वप्न देखता है ना वही जो सुसुप्ति में शांत रहता है और जो स्वप्न के विक्षेप को देखता है और जो जागृत में अपने को द्रव्य मानकर द्रव्य माने पैसा नहीं हो द्रव्य माने मसाला उपादान है ना जिसको प्रयोगशाला में गला सकते हैं और कठोर बना सकते हैं उसका नाम हुआ द्रव्य है ना द्रव्य माने द्रवण की परिणामी विकारी द्रव होता है ना द्रव जैसे सोना कठोर होता है ना तो उसको गला लिया तो क्या हो गया तो द्रव हो गया तो सोने को क्या बोलेंगे द्रव्य बोलेंगे जो द्रवित किया जा सके मानो रूपांतरित किया जा सके उसका नाम द्रव्य होता है तो ये जो देह है ना देह तो ये द्रव्य है हाँ ये जवान होता है ये बुढ़ा होता है ये मर जाता है, है? ये इसका ऑपरेशन होता है इसमें इंजेक्शन लगता है इसमें दवा डाली जाती है इसमें खाना पीना जाता है तो इस द्रव्य को मैं मान करके जो जागृत में मूड बन गया मूड माने मोह गया ये मैं और ये मेरा उसका नाम हुआ मूड मूड माने ग्रस्त मोह वैचित्य मोह धातु से मोह और मूर्ख दोनों शब्द बनते हैं है ना तो जो मोहग्रस्त बन गया जागृत में और जो सपने में अपनी प्रयोगशाला में नई सृष्टि बना रहा है और जो सुशुक्ति में जा करके आराम कर रहा है और जो अपने देश काल और वस्तु की कल्पना के साथ लिए लिए जागता है और देश वस्तु वृद्ध की कल्पना को लिए लिए है ना ये सारी कल्पनाएं सो जाती है और स्वयं जागता रहता है ये जो चिंतन है ये जो दृष्टा है ये सौ है बोले भाई तीन बात उसके बारे में बताते हैं एक तो तुम्हें तीन चीज की खोज है वो बताते हैं एक तो ये चाहते हो कि हमको अमृतत्व की प्राप्ति हो ये तो हुआ प्रयोजन और दूसरे हम कौन है हमको तो यथार्थ का ज्ञान हो आनंद की दृष्टि से प्रयोजन होता है है ना और यथार्थता के ज्ञान चित्त की दृष्टि से यथार्थता का ज्ञान होता है है ना और द्रव्य के स्वरूप की दृष्टि से वो शुद्ध रूप उसका क्या है सो होना चाहिए तो शुद्धता जो है वो साधन की दृष्टि से होती है जैसे कहते हैं ना कि करण शुद्ध होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा और अपने को ब्रह्म जानोगे अपने यथार्थ स्वरूप को जानोगे तो ये स्वरूप का ज्ञान हुआ और तब जब बंधन से मुक्त हो जाओगे तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी ये फल हुआ तो साधन स्वरूप और फल तीन विभाग हुआ ये बोलते हैं कि ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का दृष्टा है ये स्वयं में साधन है स्वयं में स्वरूप है और स्वयं में फल है अब आप श्लोक के शब्द को पकड़ो तदेव शुक्रम शुद्धम तदेव ब्रह्म स्वरूपम और तदेव अमृतम अलम माने ये जो तुम स्वयं हो ये जो तुम स्वयं हो तो किसी दूसरे के साथ मिश्रित नहीं हो अच्छा एक बात आपको सुना है ये गृहस्थ लोग जो है ना वो कहते हैं कि महाराज हम बच्चे के साथ इतने मिल गए हैं कि उसके बिना नहीं रह सकते एक का बच्चा जाति में पकड़ा गया हो जवाब देता तो बाप ने कहा बाबा इससे हमारा कोई संबंध नहीं है कि तुम अपने को बचाना चाहते हो तुम्हारा संबंध है तो क्यों बचाना चाहते हो तो बचाना नहीं चाहिए ना एक बोले कि पति पत्नी का हमारा बड़ा प्रयोग एक दिन महाराज पत्नी पर पुरुष के साथ पकड़ गई बोले करिए तो पतित हो गई तो बोले तुम्हारा तो बड़ा घनिष्ठ संबंध है जब एक पति हुई तो तुम भी पति हो गए दूसरा भी पति हो जाना चाहिए बोले नाना बाबा अपना अपना काम अपने अपने साथ है जो पति हुई तो हम चाहे तो पतित होंगे <laughs> भगवान तुम तो एक हुए मरे जा रहे हो ये अलगाव कहाँ से आ गया तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने को हमेशा शुद्ध रखना चाहते हो कि नहीं अच्छा और संसारी मनुष्य क्या है संसारी किसको बोलते हैं और तो वहां मैंने सुनाया था दी रोड में कल परसों कभी एक बार किसी ने कहा कि महाराज अब ईमानदारी का और धर्म का नाश हो जाएगा तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा तो देखो सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे अंदर से तो धर्म और ईमानदारी का नाश हो जाए हमको पैसा मिले भोग मिले लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि दूसरे में धर्म और ईमानदारी बना रहे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं बोले हम अपनी पत्नी से चाहे जितना झूठ बोले लेकिन पत्नी हमसे सच बोले तो पत्नी में तुम सत्य को चाहते हो ना बोले हम चाहे धर्म से रहें चाहे न रहें हमारी पत्नी तो धर्म से है तो हम चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में धर्म रहे हमारे घर में रहे कि न रहे है ना तो जब तक इतनी मांग है कि हम अपने सिवाय सबको धर्मात्मा जीतना चाहते हैं और पुलिस की आयत सबको ईमानदार देखना चाहते हैं तो हमारा संकल्प तो बड़ा शुभ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि धर्म और ईमानदारी की मांग हमेशा बनी रहेगी है ना हम अपने लिए नहीं चाहते हैं यही हमारा संसारी कला है माने ये हम अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गए असल में जिस सदगुण को हम दूसरे में देखना चाहते हैं वो अपने अंदर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए है? तो तो सबको तो अपने लिए सबको तो छोड़ने को तैयार और और हम झूठे हों चोर हों बेईमान हों पापी हों तब भी अपने को बिल्कुल दूध का भूला दिखाने को तैयार है इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं तुम्हारी नस में तुम्हारे स्वभाव में तुम्हारे स्वरूप में कहीं न कहीं से शुद्धता आई हुई है और उसको तुम मिटाने पर भी मिटाने में समर्थ नहीं हो तुम्हारी रग में तुम्हारे खून में है तुम्हारी नस में नस नस में कहीं न कहीं से शुद्धता आई हुई है तो तदेव शुक्र अपने आप को देखो इन सबको छोड़ करके जब सो सकते हो तो सबको छोड़ के समाधि क्यों नहीं लगा सकते बड़ा प्यार थी बच्चे से महाराज मैं अपने दादा की गोद में सोता था बचपन में वो सो जाते थे और मैं धरती पर जाता था उनका इतना प्यार था तो वो हमको अपनी गोद में लिए लिए सोते क्यों थे ये पति पत्नी महाराज है ना रात भर गले जगले हाँ, लेकिन जब सूर्योदय होते होते सोते हैं तो दस बजे तक सोते रहते हैं क्यों सोते हैं और इतना प्रेम है तो एक दूसरे को छोड़ करके क्यों सोते हैं तो असल में अपना विश्राम अपने साथ अपनी शांति अपने साथ ये बिल्कुल अपना सुख अपने साथ व्यवहार में सबके साथ मिल जाते हैं मिलना चाहिए लेकिन सुसुप्ति ये बात जाहिर करती है कि तुम्हारा अकेलापन शाश्वत है तो साधन की दृष्टि से ये जो तुम्हारा अकेलापन है सिद्धि तो वो है जो साधन असाधन दोनों में तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाए एक ब्रह्म ऐसा होता है जो हंसते समय रहता है रोते समय नहीं रहता और एक ब्रह्म ऐसा होता है जो रोते समय रहता है हंसते समय नहीं रहता तो दोनों आधे आधे ब्रह्म हुए ना असली ब्रह्म वो हुआ जो हंसते समय भी रहे और रोते समय भी रहे एक ब्रह्म वो हुआ के समय और तुमने ध्यान करके उसको पता रखा है कि छूटने न रहे हैं और एक ब्रह्म वो है जो ध्यान में तो भूल छोड़ सोने में तो भूल जाए और व्यवहार याद रहे तो कोई ब्रह्म कहो ब्रह्म तो वो नहीं जो एक अवस्था में रहता है ब्रह्म वो जो दोनों में रहे ये शुक्र का अर्थ है शुक्ल शुक्र माया अविद्या के संबंध से रहे और जड़ता के संबंध से रहित तो यह शुद्धि जो मालूम पड़ती है ना ये बिल्कुल बाधित है कोई आदमी किसी भाव को बता दे कि तो हम हमेशा रख सकते हैं ये तो सब बनावटी है आगंतुक है अरे भाई उस समय तो बड़ा बढ़िया भाव था बदल गया तो बदल गया तो बाधित हो गया तुम बाधित हो गया माने तुम्हारा स्वरूप नहीं है वो अगर वो तुम्हारा स्वरूप होता तो छूट कैसे जाता तुम्हारे कर्म बदल गए तुम्हारे भाव बदल गए तुम्हारी प्रीति बदल गई तुम्हारे प्रेमास्पद बदल गए तुम्हारा शरीर बदल गया तुम्हारा मन बदल गया तुम्हारी अवस्थाएं बदल गई और जो आता है फिर उसी को मेरी एक ने बताया महाराज कि आजकल महाराज ये हमारी आठवें नंबर की पत्नी है और ऐसा प्रेम है महाराज ऐसा प्रेम है कि क्या पूछना है ना बस हमको दाम्पत्य सुख तो अब मिला है अरे भाई सातवें नंबर की थी और छठे नंबर की थी तब बोले महाराज सुख तो अब मालूम पड़ता है अरे तब क्या मालूम पड़ता था तो उस समय भी मालूम पड़ता था बना हे भगवान है ना अपना वो दोस्त था तो भी बहुत अच्छा लगता था और वो बुजुर्ग गया दूसरा आ गया तो ये भी बहुत अच्छा लगता है तो कम से कम तुमको तो ये समझना चाहिए ना कि दोनों को अच्छा मैंने माना दोनों को अच्छा मैंने बनाया है मैं दोनों से न्यारा हूँ ये तो मालूम करना चाहिए ना कि मैं दोनों से न्यारा हूँ अगर ये भी नहीं मालूम पड़ता है तो क्या मालूम पड़ता है तो शुक्रम माने तुम शुद्ध हो किसी के साथ तुम्हारा हाथ बंधा हुआ नहीं है किसी वस्तु के साथ तुम बंधे हुए नहीं हो सबको छोड़ सकते हो किसी व्यक्ति के साथ बंधे हुए नहीं हो सबको छोड़ सकते हो अपने शरीर को भी छोड़ सकते हो अपने मन को भी छोड़ सकते हो अपने अंतकरण को भी छोड़ सकते हो अपने जीवत्व की भ्रांति जो है ना झूठी है बिल्कुल हाँ। जैसे तुम्हारा किसी ने नाम मोहन रखा था या मोहन रखा था और तुमने बिना सोचे समझे मान लिया था इसी तरह से तुमको किसी ने जीव बता दिया तुम्हारा जीव नाम रख दिया और तुमको पापी पुण्यात्मा बता दिया बिल्कुल जैसे तुम्हारा नाम एक आदमी का नाम हो पहले झगड़ू था झगड़ू तो जब बेचारा पढ़ा लिखा तो उसको बड़ा बड़ी कर्म आवे कि झगड़ू कैसे बोले तो अपने को जेल लिखता था जेल आप लोगों में से भी कोई लोग ऐसे होंगे है ना जिनका नाम झगड़ू झगड़ू होगा है तो वो भी लिखते होंगे अपने को अपने लगते लिखते होंगे झगड़ू झगड़ू किसी का नाम होगा तो अपने को भी लिखता होगा ऐसा है तो कहाँ तुम कहीं नाम से नहीं बदले हो कहीं वस्तु से नहीं बदले हो शुक्र तो बोले अच्छा महाराज हमने अपने को शुद्ध जान लिया ठीक है बोले तो शुद्ध जान लेना लेकिन अपने को जेल खाने में समझना तो ये कल धड़कन में हम रहते हैं कलीजे के टुकड़े में हम रहते हैं माल पिंड में हम रहते हैं ये असल में आधार आधेय के भाव पर कभी विचार किया नहीं जाता है अच्छा आप देखो ये हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि माटी के ऊपर पानी रहता है लेकिन ये ख्याल कब आता है कि पानी के ऊपर माटी रहती है असल में मिट्टी के दो कण मिल करके जब एक गला गला हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ पानी है जरूर स्नेह के बिना बिंदी भाव ही नहीं होता है दो कण अगर एक में जुड़े हुए हैं तो उसमें पानी है तो मिट्टी का आधार पानी है कि पानी का आधार मिट्टी है अच्छा घड़े में फूल है ऐसा लगता है तो घड़े में फूल है कि फूल में घड़ा है? ये विचार नहीं आता है जब आकाश के स्वरूप का ज्ञान कहाँ हुआ आप जब तक घड़े में फूल समझते हैं घड़े का आधार फूल है फूल का आधार घड़ा नहीं है तो जब तक मैं को शरीर में समझते हैं तब तक यही उल्टा ज्ञान ज्ञान में शरीर है शरीर में ज्ञान नहीं है मन मैं शरीर हूँ ऐसा ज्ञान ही असल में शरीर है और ज्ञान आधार है और शरीर आधे है शरीर आधार और ज्ञान आधे नहीं है इसका अभिप्राय हुआ कि तुम सिवा का ब्रह्म हो कई मत मजहब ऐसे होते हैं जो जीव को आकाश में उड़ने वाली आग की चिंगारी के समान या जुगनू खद्योत जो उड़ते हैं ना वैसे टुकड़ा टुकड़ा मानते हैं तो नहीं नहीं ये चैतन्य जो है ये ब्रह्म है अनंत है अब अमृता देखो एक गेहूं का दाना तुमने गेहूं को माना तो नष्ट हो गया और गेहूं के संस्कार गेहूं के गेहूं तने के संस्कार से संस्कृत मिट्टी को अगर गेहूं माना तो एक गेहूं के नष्ट हुए तो गेहूं नष्ट तो नहीं हुआ वो संस्कार तो जारी है प्रभावी हित है तो जिसमें से गेहूं पना अभिव्यक्त होता है उस अभ्यक्त को तो देखो तो बदलता मिटता रहता है लेकिन गेहूं के साक्षी को देखो तो मात्र को देखो तो अधिष्ठान को देखो तो अमृता पूछते ये अमृत है तुम यदि व्यक्ति हो हड्डी मांस चांद के पुतले हो तो एक दिन पैदा हुए थे एक दिन मर जाओगे इतना ही तुम्हारा जीवन है बोला और यदि तुम कर्म वासना और प्रज्ञा और अध्ययन इनको अपने साथ लिए हुए हो तो तुम्हारा जीवन इतना ही नहीं है आगे आगे है हाँ। पीछे पीछे से आया है और आगे आगे जाएगा और यदि तुमने कर्म वासना बुद्धि और अध्ययन के संस्कार इनसे भी अपने को मुक्त चिन्हमात्र जान दिया तो चिन्हमात्र तो देश काल वस्तु की कल्पना ये संस्कार से भी निर्मुक्त है वो देखो तुम हो तो तुम ब्रह्म हो और ब्रह्म हो तो तुम्हारे अंदर बंधन नहीं है बंधन छोटे का होता है बड़े का बंधन नहीं होता एक ने कहा कि एक आज मैं रस्सी में रस्सी में बांध के आकाश में आया हूँ तो आपको विश्वास होगा हाँ? आकाश रस्सी में बांधने की चीज नहीं होती इस प्रकार जो देश काल वस्तु की कल्पना का जो साक्षी होता है वो ब्रह्म होता है और वो कभी जातना कर्म बुद्धि अथवा विद्या में विज्ञान में बंधता नहीं है विज्ञान शब्द का ही प्रयोग है बृहदारण्य उपनिषद में इसके लिए समूचे विज्ञान शब्द का प्रयोग है यथा विज्ञानो भवती जो विज्ञान को पकड़कर अपनी बुद्धि में रखेगा उसका पुनर्जन्म होगा ऐसे लिखा है जो विज्ञान को पकड़कर अपने में रखेगा विज्ञान माने विशेषता का ज्ञान विज्ञान माने विशेष ज्ञान हो विशेष ज्ञान है ना घट का घटत्व और गो का गोत्व है ना ये गोत्व तो एक सामान्य है बहुत अनेक व्यक्तियों में रहता है और घटत्व तो एक सामान्य है एक एक गाय और एक एक घड़ा व्यक्ति है विशेष है और देश और घटत्व ये सामान्य है परंतु ये सामान्य भी आपेक्षित सामान्य है है ना और जो निर्विशेष और सामान्य जो तत्व है जिसमें जाति नहीं और व्यक्ति नहीं ऐसा जो तत्व है वो तत्व नरक में जाता नहीं बोले नरक में रहता है बोले नहीं नरक की जो कल्पना है वो उसमें पुर रही है तो स्वर्ग में रहता है कि स्वर्ग उसमें रहता है बोले अच्छा ये बताओ कि रस्सी सांप में रहती है कि सांप रस्सी में रहता है सांप तो है ही नहीं कल्पित है न उसमें रस्सी व्यापक है और न तो सर्प व्याप्त है और न सर्प व्यापक है रस्सी व्याप्त है कल्पित वस्तु जो है इसका यथार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता तो बोले स्वर्ग की जो कल्पना है वो जिससे प्रकाशित हो रही है, है? और उस कल्पित स्वर्ग का जो अधिष्ठान है उसका नाम ब्रह्म है तुम ब्रह्म हो बोले अभी हम दस में प्रमुख हो जाओगे अरे भाई तुमने अपने तो बद्ध की कल्पना कर रखी है बिना देखे बिना जाने बिना सुने बिना सोचे अपने में बंधन की कल्पना कर रखी है है ना तो मरा जाओ फिर मोक्षे की कल्पना कर ले ऐसी भी एक है और मान लेते मुक्त है तो जब तक दुनिया में है ना चाहते नहीं लगेंगे तब तक अपने को मुक्त मान जान लोगे अगर जान लोगे कि दूसरी कोई बांधने वाली वस्तु नहीं है निवृत्त नहीं है दूसरी कोई सटने वाली वस्तु नहीं है भागने वाली वस्तु उसके अतिरिक्त नहीं है है ना देश का अधिष्ठान मैं परिपूर्ण हूँ काल का अधिष्ठान मैं अविनाशी हूँ वस्तु का अधिष्ठान मैं सन्मात्र हूँ और संपूर्ण प्रकाशों का प्रकाश में स्वयं प्रकाश हूँ ये अगर जान लोगे तो जो तुम्हारी मुक्ति होगी वो वास्तविक होगी तो कल्पित मुक्ति कैसे होती है महाराज कल्पित मुक्ति बताता है एक ने कहा आज तक तो मैंने रस्सी में सांप की कल्पना कर रखी थी अब आज तो मैं रस्सी में फूल माला की कल्पना करता हूँ वो जो फूल माला है ना है? अपने को बोले हम अपने को अपताप नहीं समझते महाराज क्या समझते हैं तो फूल माला समझता है ये कल्पना हो गई और जब जानोगे तब क्या होगा तो अपने को रस्सी जानोगे तो अपने से मुक्त की कल्पना कर लेना ये कल्पना दूसरी चीज है है और अपने से मुक्त जानना ये दूसरी चीज है तो देखो असल में तुम ही मुक्ति हो तुम सहज स्वभाव से ब्रह्म हो तुम सहज स्वभाव से शुद्ध हो कौन तो हो सिद्ध जागृत स्वप्न सुसुप्ति के साक्षी हो न तुम्हें अंतकरण शुद्धि की अपेक्षा है और न तो ब्रह्म होने की अपेक्षा है ब्रह्म होना नहीं है वो तो है और न तो मुक्ति पाने की अपेक्षा है क्योंकि मुक्त हो तो तो तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्चते उच्चते का अर्थ है तो ये भी बात कहने की है तो उच्चते का अर्थ क्या है तो चूंकि तुमने अपने को अशुद्ध मान लिया है इसलिए तुमको समझा रहे हैं कि शुद्ध हो तुमने अपने को मान लिया कि मैं जीव हूँ तो तुमको समझा रहे हैं कि ब्रह्म हो तुमने अपने को मान लिया कि मैं जन्म मृत्यु वाला हूँ तो तुमको समझा रहे हैं कि तुम अमृत हो आनंद हो ये उच्चते उच्चते माने उपदिश्यते इसका हम उपदेश कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि तुम्हारी मान्यता तुम्हारी जानकारी प्रज्ञा इसके विपरीत हो गई है ये संतो नवा संते सतो वाहन वर्ष से या तो तुम्हारे गांव में कोई संत नहीं है या तो तुम संत की आज्ञा मानते नहीं हो या तो तुम संत का तुम्हारे गांव में या तो कोई संत ही नहीं संत होता तो तुमको बताता कि तुम शुद्ध हो बुद्ध हो है ना तुम कामी क्रोधी दंपक हो ये तुमको संत नहीं बताता है ना और तुम पापी आत्मा बद्ध हो ये तुमको संत नहीं बताता कहते हैं कि संत तो उसको बोलते हैं भव बारूद मृग कृथा समाना अनुच्छेद यह भाकत नहीं आना संत उसको कहते हैं जिसकी प्रत्येक वाणी में ये ध्वनि निकलती है कि ये जो नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है ये मृग कृष्णा के जल के समान मित्र है आत्मतत्व के सिवाय और कुछ सत्य नहीं है ये संत का या भी ज्ञानी पुरुष का लक्षण हो है ना भय बारी भी मृग कृष्णा समाना है ना अनुदिन कहिए देखो तुमको भूख लग गया किसी ने कहा आप तो पांच रुपया ले आओ हम तुमको छुड़ा देते हैं है ना ये संत का काम नहीं है संत का काम नहीं है कि पहले तुमको भूख लगा दे है ना फिर ग्रह लगा दे फिर देवता को नाराज कर दे और फिर उनको खुश करने का है ना तो उनको खुश करने की दक्षिणा ले ले तो ये संत का काम नहीं है ये तो मलिन विद्या वाले बोलते हैं ना मलिन विद्या वाले दक्षिणी है दक्षिणी राक्षसी है ना ये सब भूत प्रेत पिशाच ये सबका काम है सबका ये काम है कि जब देखता है कि तुम शुद्ध होने पर भी अपने को अशुद्ध मान रहे हो और ब्रह्म होने पर भी अपने को जीव मान रहे हो मुक्त होने पर भी अपने को बद मान रहे हो तो तुम्हारी उनकी मान्यता को मिटाने के लिए अपनी ओर से नहीं तुम्हारी मान्यता के विपरीत अगर तुम्हारी मान्यता नहीं हाँ हाँ करता जाए है ना जी हुजूर आपने कहा कि महाराज मैं बड़ा बड़ा पापी होता जी हुजूर है ना क्या महाराज मैं तो सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा हूँ जी हो तो मैं तो बद्ध हूँ जी हुजूर है ना ऐसे नौकर को तो चाहिए कि मालिक मार के घर से निकाल दे तुम्हारी हर बात में जी हुजूर जी हुजूर जी हुजूर है ना अरे संत तो है भाई कि कोई जी दूरी है चापलूस है तो तस्मिन लोका सुरता सर्वे सदुना चेती कष्ट तस्मिन लोका सुरता सर्वे यही यही जो ब्रह्मा भिन्न आत्मा है ये सारे लोग भी इसी में बात रहे हैं तब नाते की कष्ट न कोई कहे कि जैसे हम वैकुंठ के ऊपर चले जाते हैं गोलोक में गोलोक वाले मानते हैं वैकुंठ के ऊपर है गुल नारायण और साकेत वाले मानते हैं कि साकेत लोक में रामचंद्र जा राजा है ना वहाँ जो गौशाला है उसमें श्री कृष्ण गाय कराते हैं है ना हाँ। <laughs> और बोले श्री कृष्ण जो है वो तो गोलों का अधिपति है उन्होंने संसार में धर्म मर्यादा की स्थापना का अध्यक्ष बनाते रामचंद्र को भेज दिया है बोले नारायण को बहुत नीचे हैं बोले नारायण वाले बोलते हैं कि नारायण ऊपर है जो लोग साकेत नीचे हैं ये तो सब नारायण के अवतार है अवतारी तो नारायण ही है? तो सबके ऊपर जैसे नारायण के ऊपर कृष्ण चले जाएंगे कृष्ण के ऊपर नारायण चले जाएंगे हाँ, लेकिन एक चीज ऐसी है कभी नाते की कश्चना आत्मा बहिर बहिर्भाग में जाओगे तो एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक एक हाँ, एक संत हाँ, राजा स्वामी संत कहता हो यहाँ कोई होंद बाबा माफ करना होगा तो हम उसके पास जाते थे और वो महाराज ऐसे पाँव करके गए तो जानते हैं उनके हम साधना नाक कान दबाते बीच में पर्दा लगता है एक और औरतें बैठती एक और वो मर्द बैठते और दोनों को दिख सके ऐसी जगह पर वो महात्मा बैठते थे हाँ। तो नारायण एक बार बोले कि ये जो धरती है इसके पचास करोड़ भोजन ऊपर हमारा गुरुधाम है तो मैंने कहा महाराज मैंने सुना है कि धरती घूमती है बोले हाँ घूमती है मैंने कहा सूर्य को परिक्रमा करती है सूर्य कहा करती है तो मैंने कहा महाराज धरती घूमते घूमते कभी आपके लोग के ऊपर जाती होगी कि नहीं तो <laughs> एक जगह जब बनाओगे भाई एक जगह बनाओगे तो कोई एक जगह कहीं से नीची होगी कहीं से ऊंची होगी कहीं से दाएं होगी कहीं से बाएं होगी जो स्थान होगा वो सबसे ऊंचे कैसे होगा तो उसके ऊंचे तो कहीं निकल जाएगा जरूर उसके ऊपर भी जाएगा नारायण ही कभी बैकुंठ में से निकल के ऊपर उड़ते होंगे अपने अपने देश के ऊपर उठते होंगे कि नहीं जब उनको कहीं कभी मौज आती होगी कि विमान में यात्रा करें तो अपने लोग के ऊपर उड़ेंगे कि नहीं और नवरे पर नारायण तो उड़ेंगे हाँ। लेकिन ये कहो कि हम आत्मा का अतिक्रमण करके अब हम ब्रह्म के ऊपर जा रहे हैं अब हम आत्मा के ऊपर जा रहे हैं है? हाँ। और आत्मा के ऊपर आत्मा नहीं होगी तो अनात्मा होगी आत्मा के ऊपर भी आत्मा ही होगी ब्रह्म के ऊपर भी ब्रह्म ही होगा बोला कभी रात को कष्ट ना देश की दृष्टि से काल की दृष्टि से वस्तु की दृष्टि से अंतरंगता की दृष्टि से अधिष्ठानता की दृष्टि से तात्विकता की दृष्टि से इस ब्रह्म का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता तो ये आत्मा ब्रह्म ये सद वही सात है ये आत्मदेव वही ब्रह्म है बोला दूसरे नहीं ओम